अल्लाह ताला ने फरमाया उसी में तुम जियोगे और उसी में तुम मरोगे और उसी में से तुम निकाले जाओगे